खुद भी खाओ और अपने मवेशियों को भी चराओ यकीनन इन सब बातों में अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं